दादाजी बहुत भूख लगी है अगर आप बिजी हैं तो हम कुछ बाहर से खाएं। घर से बाहर मत निकलो वो देखो दादाजी ये क्या है ये सेवन इन वन प्लेनेट है सात प्लेनेट्स की पावर्स उस क्रिस्टल बॉल में है तमाम साइंटिस्ट इस पे सालों से रिसर्च कर रहे हैं लगता है किसी की रिसर्च पूरी हो गई है लेकिन ये क्रिस्टल बॉल उसके हाथ से निकल गया है दादाजी वो उस तरफ अंधेरा क्यों है ये इसी क्रिस्टल बॉल की पावर्स की वजह से है पूरी धरती में आधी रोशनी और आधा अंधेरा हो गया है ये अंधेरे की तरफ जा रहा है और वहां पहुंच गया तो पूरी धरती भी इसमें समा जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा